हो वो तो सेवा के तारतम्य से देखेगा जितना प्रेम है जितनी सेवा है उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करता है हमारे एक उद्योगपति मित्र हैं उनको तो मालूम पड़ जाता है पहले से कि किस किस मील की किस शेयर की कीमत बढ़ने वाली है पहले से उनको मालूम पड़ जाता है तो अपने किसी मित्र को बता देते हैं वो खरीद लेता है धनी हो जाता है मिनटों में धनी हो जाता है ऐसे जो लोग धर्म का का मोक्ष का काम का रहस्य जानते हैं तो मिनटों में मोक्ष भी दे सकते हैं और काम भी दे सकते हैं भोग धर्म भी दे सकते हैं है चीज मिनटों की ही चीज है यदि अपने सेवक की श्रद्धा सच्चाई और ईमानदारी को समझता है तो क्या नहीं दे सकते तो जैसे गुरु उसे गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले दाव दोनों बीस बीस डूब मरे जो पत्थर की नाव न गुरु निष्कप न सेवक निष्कपट होता है न गुरु निष्कपट होता है सेवक की निष्कपटता ही गुरु को निष्कपट स्वामी बना देती है जब तक गुरु के पास जो कुछ है वो दे नहीं देता शिष्य को तब तक उसका धर्म पूरा नहीं क्षेत्र का धर्म तभी पूरा होता है जब अपना सर्वस्व अपने सेवक को दे देता और सर्वस्व क्या है सबसे बड़ी चीज सर्वस्व अपना आत्मा है अपने आत्मा का साक्षात्कार करा दिया सब कुछ दे दिया स्वार्थ के लिए पत्नी से प्रेम करता है पत्नी पति के लिए पति से प्रेम नहीं करती अपने स्वार्थ के लिए पति से प्रेम करती तो वहाँ जो श्रुति है वो प्रपंच निरूपक श्रुति है तत्व निरूपक श्रुति नहीं है सुर्खियों के की संगति लगाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है वहाँ बाच्यार्थ जो है वो वैराग्य है प्रपंच से प्रेम नहीं है जहाँ पति पत्नी से प्रेम करता है कि पत्नी पति से प्रेम करती है ये बताना नहीं है बल्कि ये बताना अभीष्ट है कि सबके मन में कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है आत्मा प्रेमास्पद है ये नहीं है तात्पर्य तो आत्मा ही प्रेमास्पद है और कोई नहीं है ये नहीं निकलेगा तो और कोई नहीं है ये निकल आया ना तो वही बात हो गई हम दूसरे से प्रेम क्यों करते हैं अपने से ज्यादा सुख रूप उसको समझते हैं और उससे सुख लेना चाहते हैं किसी से भी हम सुख लेना चाहते हैं मूल तत्व व्यवहार में यही है सुख देने के लिए हम व्यवहार नहीं करते अच्छा कहो हम परोपकार करते हैं तो परोपकार करने में हमको सुख मिलता है हमको संतोष होता है ये कहो कि इसका चित्र कितना बढ़िया है कि दूसरों का भला करके संतुष्ट होता है ये बात तो हम जोड़ सकते हैं इसका हृदय कितना बढ़िया है कि दूसरों को सुख पहुंचा के सुखी होता लेकिन दूसरों को सुख पहुंचा के सुखी ही होता है इसलिए ये ब्रजवासियों की जो भावना है ना तत्सुखी भाव तो उसमें भी तत्सुखे सुखित्व है अपने प्रियतम को सुख पहुंचाकर वो सुखी होता है मन सुखी तो वही होता है सुखी तो वही होता है सुख पहुंचाकर सुखी होता है बढ़िया चीज बन के आती थी कहीं से खाने के लिए तो उड़िया बाबा जी महाराज उठा के अपनी थाली में से हमको दे देते बेटा खाओ महाराज आप भी लीजिए नहीं तुम खाओगे तो हमको ज्यादा मजा होगा उनको मजा आवे इसकी जगह पर खिला तो के उनको मजा आता था तक पहुंचते जाएंगे क्यों क्यों गुरु और परमात्मा की एकता समझ में आती जाएगी वैसे तो भावना की जाती है सालग्राम को परमात्मा नहीं समझते हैं पर ईमानदारी से देखो कि आप कितनी गहराई के साथ शालग्राम की शिला को परमात्मा समझते हो ये जयपुर से या वृंदावन से गढ़ी हुई जो मूर्तियां निकलती हैं इनको हम कितनी ईमानदारी कितनी गहराई से साक्षात भगवान समझते हैं तो जब हम अपने आत्मा को सच्चाई और ईमानदारी से हड्डी मांस चाम के शरीर से अलग और क्रिया प्रक्रिया से अलग और इच्छाओं से अलग और विचार भिन्न भिन्न विचारों से अलग और जागृत सुक्ति से अलग अपने को जितनी सूक्ष्मता में हम समझेंगे उतनी ही सूक्ष्मता में गुरु को समझेंगे और जितनी सूक्ष्मता में अपने को और गुरु को समझेंगे उतनी ही सूक्ष्मता में परमात्मा को समझेंगे आज ज्ञानेश्वरी पर टीका है गीता पर ज्ञान देव जी की उसके आचार्य उपासनम आचार्य की उपासना करना इसकी व्याख्या में उन्होंने कई पृष्ठ लिखे और उन्होंने उसका अर्थ किया है कि आचार्य के उपमाने पास आसन लगाना जहाँ तुम्हारा गुरु बैठता है तुम्हारा गुरु ईश्वर को चंदन लगाता है कहा बस तुम भी पास हो जाओ कपड़ा पहनाता है कहा पास हो जाओ तो तुम्हारा गुरु ईश्वर से एकता का अनुभव करता है हाँ करता है कि तो तुम भी करो जितनी गहराई में तुम्हारा गुरु बैठता है अंतर में लौट के बाहर जाके ईश्वर के पास नहीं बैठा जाता बाहर से लौट कर भीतर हृदय के भी हृदय में अंतरदेश के भी अंतरदेश में अपने आप में जब हम बैठते हैं तब ईश्वर के पास बैठते हैं और ईश्वर के जितने पास हम बैठते हैं उतने ही हम गुरु के पास बैठते हैं ईश्वर तो अलग अलग स्वार्थ के कारण होता है बहुत मोटी बात है ये जब तक गुरु और शिष्य का स्वार्थ अलग अलग नहीं होगा तब तक दोनों में अलगाव का भाव होगा ही नहीं हर्ष कैसा गोपी उनको अपने शरीर की सुंदरता भी अपने लिए प्यारी नहीं है अपने प्यारे के लिए प्यारी है इसका अर्थ है कि गोपियों ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के लिए अर्पित कर दिया है गोपी गोपी के लिए नहीं है कृष्ण के लिए है जब तक गोपी अपने लिए रहेगी तब तक वो गोपी नहीं है को इसीलिए प्रेम का आदर्श माना जाता है कि उनकी प्रियता अपने व्यक्तित्व में नहीं है अपने प्रेमास्पद में है प्रियता माने संस्कृत में होता है तृप्ति प्रिय तर्पण गोपी की तृप्ति अपना बाल संवार कर सुंदर बनने में है अपने को तेल फुले लगाकर सुंदर बनने में है स्वयं बढ़िया खा पी कर बन हृष्ट पुष्ट बनने में है नहीं श्री कृष्ण जिससे प्रसन्न होते हैं उसी में गोपी की तृप्ति है गोपी ने अपनी तृप्ति को अपनी प्रसन्नता को अपने में नहीं रखा है कृष्ण में रखा है और ये हो असल में तभी सकता है जब आत्मा एक हो किंचित भी आत्मा से पृथकता होने पर तृप्ति दूसरे में रह, रह, रह जाएगी अपने में नहीं होगी संपूर्ण रूप से तृप्ति अपने में तभी रहेगी जब हमारा प्रेमास्पद संपूर्ण रूप से अपना रहेगा यदि वो संपूर्ण रूप से अपना नहीं हुआ तो पूरा प्रेम नहीं होगा तो जितना जितना हम अपने प्रेमास्पद को अपना देखते हैं शरीर का मरना कोई प्रेम नहीं है या मन या वाणी से याद करते रहने का नाम प्रेम नहीं है इसमें तो जोर है जबरदस्ती है उसमें बल है प्रेम में बल नहीं होता जोर लगाकर प्रेम नहीं किया जाता प्रेम सहज होता है शब्दे धन्यास्ता सखी तक जिन्हें स्वप्न में प्यारे के दर्शन होते जाए वे गोपी धन्य है अस्माकम तु गते कृष्ण गता निद्रा तु बहरीणी हमारे तो श्री कृष्ण क्या चले गए उनके साथ दीन भी चले गए प्रेम सहज होता है वो जबरदस्ती जप से तप से उपवास से हट से नहीं होता है सहज उनको थी वो जो योग का वर्णन आता है ना बारंबार रास में से भी अंतर्धान हो जाना गाय चराने के लिए भी वन में चले जाना मथुरा चले जाना ये अंत प्रवेश के लिए है माने प्रेम बाहर की वस्तु को अंतर में ले जाता है तो जब तक वियोग नहीं होगा तब तक संयोग में अत्यंत अंतर तब स्थिति नहीं होगी प्रेम जो कि अपनी आत्मा का स्वरूप है इसलिए बाहर जाने पर प्रेम पूरा नहीं होता भीतर घुसने पर प्रेम पूरा होता है जो लोग अपने को हड्डी मांस चाम का पुतला समझते हैं वे इससे मिलने को प्रेम की पूर्वता समझते हैं और जो अपने को शुद्ध आत्मा के रूप में बिल्कुल निरावरण हमारे और प्रियतम के बीच में हड्डी मांस जाम नहीं है प्राण नहीं है इच्छाएं नहीं है विचार सोना जागना नहीं है प्यारी जू को रूप मानो प्यारो प्यारो को ही रूप मानो प्यास प्यास प्यास ही को रूप मानो प्यारी जीव को रूप है तो प्यारे जब तक दो रहते हैं तब तक प्रेम की पूर्णता नहीं है इसी से कोई भी प्रेमी जब प्रेम करते करते प्रियतम से एक हो जाता है तभी प्रेम पूरा होता है हम बिहार करें दो तो लाल प्रिया में कहीं न चिन्हारी वे उनको नहीं जानते हैं वे उनको नहीं जानते हैं प्रेम प्रियतम को प्रेमी बना देता है प्रेमी को प्रियतम बना देता है ये बात हम देखते हैं दुनिया में स्पष्ट रूप से कि जब हमें निश्चय होता है कि ये आदमी हमसे सच्चा प्रेम करता है तो हमारा उससे सच्चा प्रेम हो जाता है और जब हम समझ बैठते हैं कि इसका प्रेम सच्चा नहीं है बाहरी है तो हमारा प्रेम भी घट जाता है इसका प्रेम ज्यादा है हमारा कम है ऐसा मालूम पड़े तब तो प्रेम बढ़ता है हमारा प्रेम ज्यादा है इसका प्रेम कम है ये मालूम पड़े तो प्रेम घटता है प्रेम का नियम ही है कि प्रेमी में जितना अधिक प्रेम देखोगे उतने तुम्हारे हृदय का प्रेम बढ़ेगा निष्ठा को तो बहुत उत्तम कोटि के निष्ठा मानते हैं कहते हैं तिब्बत में एक ताई थे तो समझो लामा सर्वोत्तम फकीर समझासी नहीं वैष्णव नहीं सन्यासी नहीं फकीर थे फकीर उनके पास एक डंडा था और एक कमंडल था दो ही चीज थी तीसरी कोई चीज नहीं थी लोगों की मान्यता ये थी कि इसी में इनकी सिद्धि है इसी में इनकी आत्मा बसती है जब ये शरीर छोड़ेंगे तो ये उसको मिल जाएगा यही मिल जाएगा जो उनका सच्चा प्रेमी होगा जो बिल्कुल कुछ पढ़ा लिखा नहीं जानकार नहीं समझदार नहीं वो उनके पास आया बोला महाराज हमारे लिए भी कुछ आज्ञा कीजिए तो उन्होंने कहा जाओ धान कूटो और चावल बांटो अब वो जहाँ बैठते थे महात्मा उसके पीछे और चला गया और वहाँ धान कूटे और जो गरीब हो उनको चावल बांटे जिज्ञासा में फिर फिर वो कभी उनका दर्शन करने के लिए सामने नहीं गया कभी प्रणाम नहीं किया कभी दर्शन नहीं किया बस वो पीछे जहाँ बता दिया था उन्होंने उसी तरफ जा करके वो धान कूटता और बांटता था एक समय ऐसा आया जब वो वृद्ध हो गए तो ये हुआ कि अब इनका दंड कमंडल किनको मिलेगा ये निश्चय हो जाना चाहिए निकलिखे परमार्थ के बारे में कि परमार्थ का स्वरूप है यही परमार्थ का स्वरूप है इसके बारे में कोई शिष्य गाथा लिखे तो उसको देख के ये निश्चय होगा कि दंड कमंडलू किसको दिए ने पचासों लोगों ने सैकड़ों लोगों ने दंड कमंडल पाने के लिए गाथा लिखी एक लड़के के हाथ में वो गाथा लगी वो उसको पढ़ता हुआ वहां पहुंच गया जहां वो आदमी जहां वो धान कूटता था आदमी बांटने के लिए पढ़ने लगा तो धान कूटने वाले ने कह क्या है भाई कही गाथा लिखी गई है परमार्थ के स्वरूप का जिसकी गाथा सबसे बढ़िया होगी उसको गुरु जी का सर्वस्व उनकी सब सिद्धि मिल जाएगी उसने कहा अच्छा हम भी हमको तो आता नहीं कुछ पढ़ा पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं हम भी लिखेगा था लिखना नहीं आता हमको तो तू लिख ले बोलते हैं तो लिख ले तो लड़के ने गाथा लिखी उस गाथा में था कि न कोई दूसरा देवता है न दानी है न दूसरा लोक है न परलोक है न कोई स्वर्ग है न नरक है न कोई ईश्वर है न परमेश्वर है न कोई आत्मा है न कोई ब्रह्म है जो है सो है रखने की और उसका रूप निश्चय करने की कोई जरूरत नहीं है तो लड़की के हाथ में मिली तो उसे कहा उस पगले ने लिखा है जो धान कूटता रहता था देखो उस पगले ने लिखवाया हमसे आके जब पढ़ के सभा में सुनाया तो उस पगले की लिखी हुई बात तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि असल में यही गाथा सबसे श्रेष्ठ है और गुरु जी ने अपना दंड कमंडल अपने सामने उसको दे दिया और वो स्वयं वहां से अंतर्धान हो गए ताइयों की जो तिब्बती कथा आती है सिद्धति कथा में ये एक कथा है कि अन्य पर आस्था ही अपने में अभाव की न्यूनता की कमी है चाहे धन पर हो चाहे धर्म पर हो चाहे भोग पर हो चाहे मोक्ष पर हो अपने स्वरूप से अतिरिक्त पर आस्था हो नहीं अपनी न्यूनता का सूचक है अपनी पूर्णता के अभाव का सूचक है किसी को दुख नहीं होगा तो और किसको होगा दुनिया भर का सारा दुख वेदांति का है सब कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य देवता दैत्य सबका कष्ट वेदांति का ही कष्ट है देह दृष्टि से नहीं देखना चाहिए मछली कहीं पानी में तैरती रहती है मजा लेती है और कहीं तवे पर तली जाती है पकाई जाती है मछली देखने वाले मछली देखने का आनंद लेते हैं तो तलबे वाले तलबे का मजा लेते हैं हमने हरिद्वार में देखा हो बड़ी बड़ी मछली लॉल लॉल थी बड़ी बड़ी बह रही थी उनको देख कर एक आदमी के मुंह से पानी गिर पड़ा होगा और एक आदमी के गाँव में देखा तवे पर मछली चली जा रही थी और वो व्याकुल हो गया नमकीन मछली खाने के लिए वही मेरे वेदांति तो सब है सुखी भी वही है दुखी भी वही है हाय हाय भी वही करता है राम राम भी वही करता है जय हो जय हो वही और सब एक ही है कोई फर्क नहीं है हाय हाय करो चाहे जय हो जय हो करो एक ही भगवान सर्व के रूप में संस्कार बिगड़ गया एक महात्मा से मैंने पूछा क्या हाय हाय क्यों करते हैं अगर इसका मजा लेते हैं हाय हाय का भी मजा होता है तो हम्म। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया कि दो बरस तक तुम्हारे ग्रह बहुत बुरे हैं यजमान बस दो बरस के बाद तुम अच्छे हो जाओगे अच्छा पूछा कि दो बरस के बाद क्या होगा डॉक्टर ज्योतिषी तो दो बरस के बाद आदत पड़ जाएगी तुमको ऐसे रहने तो ये सब ऐसे ही है सीधा साधा जीवन व्यतीत करो भगवान का नाम लेते रहो इसमें जो कुछ भी बदलने की कोशिश है चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो चाहे यौगिक हो कोई भी बदलने की कोशिश आज तक सफल नहीं हुई है दुनिया जैसी पैदा हुई थी वैसी ही चल रही है इसमें शुरू शुरू में भी अच्छे बुरे लोग थे बीच में भी थे अब भी हैं आगे भी रहेंगे ये तो मनुष्य की कुछ न कुछ आदत पड़ गई है करने की करता रहता है दुनिया तो बिल्कुल अपने ढंग से चलती है इसको कोई बदल नहीं सकता कितना बाल बनाओ रोज बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे कितना तेल फूले लगाओ शरीर तो रूखा हो जाएगा कितना स्वस्थ रहने की कोशिश करो शरीर बीमार पड़ेगा तो दुनिया अनादिकाल से जैसी चली आ रही है वैसी चलेगी अपने को आनंद से भर लो दुनिया की फिक्र मत करो सीताराम सीताराम चाहे ब्रह्म सही सीताराम करो चाहे ब्रह्म करो ये कहिए दोनों में कोई फर्क अपनी मस्ती न जाए हाय हाय करने की भी मस्ती है किसी प्रकार का किया आध्यात्मिक स्तर पर राजा जनक की तरह कोई व्यक्ति वैराग्य सर्वस्व प्रयास और ब्रह्म ज्ञान की योग्यता किस प्रकार प्राप्त कर सकता है बिना किसी प्रकार का भाई त्याग यही हम्म। आध्यात्मिक स्तर पर राजा जनक की तरह कोई व्यक्ति वैराग्य सर्वस्व और ब्रह्म ज्ञान की योग्यता कैसे प्राप्त कर सकता है कैसे प्राप्त कर सकता है कि किए बिना कैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त तो के बिना हम्म। ऐसी स्थिति हाँ प्रश्न यही यही लगता है यज्ञ जनक ने जन्म जन्म में बड़े बड़े धर्म पुण्य यज्ञ किए थे तब उसके फल स्वरूप उनको इस जीवन में ये स्थिति मिली थी जनक को कहीं सातवें आसमान से टपट के स्थिति नहीं मिली थी जनक ने बहुत बड़ी साधना की थी कितने जन्म कितने जन्म जनक के बीच गए थे तब उनको स्थिति ये मिली थी इसलिए आप भी खूब चाहते तो हैं आप हीरा पाना कहानी कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते हैं बाबा कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है यदि जनक किसी स्थिति करना है जनक किसी स्थिति प्राप्त करना है तो आप जनक जैसा साधन कीजिए आप ये क्यों नहीं कहते कि हम उद्दालक बनेंगे हम सुखदेव बनेंगे हम नारद बनेंगे सस्ते में महंगी चीज क्यों पाना चाहते माने परमार्थ में भी बेईमानी चाहते दो तो पैसे में आप लाख रुपए की चीज भाग लेना चाहते हैं आप साधन कीजिए ऐसे कहिए ना कि जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी गर्व शंभुनथ राव कुमारी हम तो रामचंद्र को हम तो शंकर भगवान को प्राप्त करके ही रहेंगे चाहे जिसने जन्म लग जाए सस्ते में क्यों पाना चाहते हैं खेती के लिए अन्न पैदा करने के लिए इतना प्रयत्न पैसा पैदा करने के लिए इतना प्रयत्न ब्याह करने के लिए इतना प्रयत्न बच्चे के लिए इतना प्रयत्न सबसे सस्ते भगवान ही है उनके लिए भी कुछ करो भाई थोड़ा थोड़ा करने लगोगे तो मजा आने लगेगा और फिर आप स्वयं छोड़ नहीं सकोगे ग्रंथों में नहीं देखो स्वामी जी अगर ज्ञान साधन के पराधीन नहीं होता है